Intro, Yog Nayayam, Talks given in Pune, India, Discourse number 1. की अपेक्षा करता है विज्ञान कहता है करो देखो विज्ञान के सत्य उनकी वास्तविक सत्य है इसलिए किन्हीं श्रद्धाओं की उन्हें कोई जरूरत नहीं होती दो और दो चार होते हैं माने नहीं जाते और कोई न मानता हो तो खुद ही मुसीबत में पड़ेगा उस दो दो चार अक्षर की मुसीबत नहीं पड़ रहा है विज्ञान मान्यता से शुरू नहीं हो रहा विज्ञान खोज से अन्वेषण से शुरू होता है वैसे ही योग भी मान्यता से शुरू नहीं होता खोज जिज्ञासा अन्वेषण से शुरू होता है इसलिए योग के लिए सिर्फ प्रयोग करने की शक्ति की आवश्यकता है प्रयोग करने की सामर्थ की आवश्यकता है खोज के साहस की जरूरत है और खोज की जरूरत नहीं योग विज्ञान में जब ऐसा कहता हूं तो मैं कुछ सूत्र की बात से बात करना चाहूँ जो योग विज्ञान के मूल आधार है इन सूत्रों का किसी धर्म से कोई संबंध नहीं है यद्यपि इन सूत्रों के बिना कोई भी धर्म जीवित रूप से खड़ा नहीं रह सकता इन सूत्रों को किसी धर्म के सहारे की जरूरत नहीं है लेकिन इन सूत्रों के सहारे के बिना धर्म एक क्षण भी अस्तित्व में नहीं रह सकता योग का पहला सूत्र योग का पहला सूत्र है कि जीवन ऊर्जा लाइफ इज इनर्जी जीवन शक्ति बहुत समय तक विज्ञान इस संबंध में राजी नहीं था अब राजी है बहुत समय तक विज्ञान सोचता था जगत पदार्थ मैटर लेकिन योग ने विज्ञान की खोजों के हजारों वर्ष पूर्व से यह घोषणा कर रखी थी कि पदार्थ एक असत्य एक झूठ एक इल्यूजन एक भ्रम भ्रम का मतलब यह नहीं कि नहीं है भ्रम का मतलब जैसा दिखाई पड़ता है वैसा नहीं और जैसा है वैसा दिखाई नहीं पड़ता है लेकिन विगत तीस वर्षों में विज्ञान को एक एक कदम योग के अनुरूप जो जाना पड़ा है अठारहवीं सदी में वैज्ञानिकों की घोषणा की कि परमात्मा मर गया है आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं पदार्थ ही सब कुछ लेकिन विगत तीस वर्षों में ठीक उल्टी स्थिति हो गई विज्ञान को कहना पड़ा कि पदार्थ है ही नहीं सिर्फ दिखाई पड़ता है ऊर्जा ही सत्य है शक्ति ही सत्य है लेकिन शक्ति की तीव्र गति के कारण पदार्थ का भाग हो रहा है दीवारें दिखाई पड़ रही है अगर निकलना चाहेंगे तो उससे टूट जाए कैसे कहें कि दीवारें बंद स्पष्ट दिखाई पड़ रही है उनका उम्र है पैरों के नीचे जमीन अगर न हो तो आप हमें कहा रहे नहीं इस अर्थों में नहीं विज्ञान कहता है कि पदार्थ नहीं है इस अर्थों में कहता है कि जो हमें दिखाई पड़ रहा है वैसा नहीं अगर हमें बिजली के पंखे को बहुत तीव्र गति से चलाए तो उसकी तीन पकड़िया तीन दिखाई पड़नी बंद हो जाएंगी क्योंकि पकड़िया इतनी तेजी से घूमेंगी कि उनके बीच की खाली जगह इसके पहले कि आप देख पाए भर जाए इसके पहले कि खाली जगह आंख की पकड़ में आए कोई पकड़ी खाली जगह पर आ जाए अगर बहुत तेज बिजली के पंख को घुमाया जाए तो आपको चीन का एक गोल व्रत घूमता हुआ दिखाई पड़ेगा पकड़ियां दिखाई पड़ेगी आप गिनती करके नहीं बता सकेंगे कि कितनी पकड़ी है अगर और तेजी से घुमाया जा सके तो आप पत्थर फेंक के पार नहीं निकाल सकेंगे पत्थर इसी पार दे जाए अगर और तेज घुमाया जा सके जितनी तेजी से परमाणु घूम रहे हैं अगर उतनी तेजी से बिजली के पंखों को घुमाया जा सके तो आप मजे से उसके ऊपर बैठ सकते आप गिरेंगे नहीं और आपको पता भी नहीं चलेगा कि पत्नियां नीचे घूम रही क्योंकि पता चलने में जितना वक्त लगता है उसके पहले नहीं पति आपके नीचे आ जाएगी आपके पैर खबर में आपके सिरकों की पकड़ी बदल गई इसके पहले दूसरी पति आ जाएगी बीच के गैप बीच के अंतराल का पता न चले तो आप मजे से खड़े रह सके ऐसे ही हम खड़े अभी भी अणु तीव्रता से घूम रहे हैं उनके घूमने की गति तीव्र है इसलिए चीजें ठहरी हुई मालूम पड़ती जगत में कुछ भी ठहरा हुआ नहीं और जो चीजें ठहरी हुई मालूम पड़ती है वे सब चल रहे हैं अगर वे चीजें ही होती चलती हुई तो भी कठिनाई न थी जितना भी विज्ञान परमाणु को तोड़कर नीचे गया तो उसे पता चला कि परमाणु के बाद तो फिर पदार्थ नहीं रह जाता सिर्फ ऊर्जा कण इलेक्ट्रॉन्स रहता है विद्युत कण रहता है उनको कण कहना भी ठीक नहीं क्योंकि कण से पदार्थ का ख्याल आता है इसलिए अंग्रेजी में नया शब्द उन्हें करना पड़ा उस शब्द का नाम क्वांटा क्वांटा का मतलब है कण भी कण नहीं भी कण भी और लहर भी एक साथ विद्युत की तो लहरें हो सकती है कण नहीं हो सकते शक्ति की लहरें हो सकती है कण नहीं हो सकते लेकिन हमारी भाषा सुनानी है इसलिए हम कण कहे चले जाते हैं ऐसे कण जैसी कोई भी चीज नहीं अब विज्ञान की नजरों में ये सारा जगत ऊर्जा का विद्युत की ऊर्जा का विस्तार तो योग का पहला सूत्र यही है जीवन ऊर्जा है शक्ति दूसरा सूत्र योग का शक्ति के दो आयाम एक अस्तित्व और एक अनस्तित्व एग्जिस्टेंस शक्ति अस्तित्व में भी हो सकती है और अनस्तित्व में भी हो सकती है अनस्तित्व में जब शक्ति होती है तो जगत शून्य हो जाता है और जब अस्तित्व में होती है तो सृष्टि का विस्तार हो जाता है जो भी चीज है योग मानता है वो नहीं है भी हो सकती है जो भी है तो वो न होने में भी समा सकती है जिसका जन्म है उसकी मृत्यु जिसका होना है उसका ना होना है जो दिखाई पड़ती है वो ना दिखाई पड़ सकती है योग का मानना है इस जगत में प्रत्येक चीज दोहरे आयाम की है डबल डायमेंशन की है इस जगत में कोई भी चीज एक आयामी नहीं है हम ऐसा नहीं कह सकते कि एक आदमी पैदा हुआ और फिर नहीं मरा हम कितना ही लंबाए उसके जीवन को फिर फिर के हमें पूछना पड़ेगा कि कभी तो मरा होगा कभी तो मरेगा ऐसा कंसीव करना ऐसी धारणा भी बनानी असंभव है कि एक छोर हो जन्म का और दूसरा छोर मृत्यु का ना हो दूर हो कितना ही दूर हो अंत ही मालूम पड़े दूरी लेकिन दूसरा छोर अनिवार्य एक छोर के साथ दूसरा छोर वैसे ही अनिवार्य है जैसे एक सिक्के के दो पहलू अनिवार्य अगर एक ही पहलू का कोई सिक्का हो सके तो अपन को मालूम होता ही नहीं हो सकता दूसरा पहलू होगा ही क्योंकि एक पहलू होने के लिए ही दूसरे पहलू को होना पड़ेगा विज्ञान का योग विज्ञान का दूसरा सूत्र है प्रत्येक की दोहरे आयाम की होने का एक आयाम है एग्जिस्टेंस का नाम एग्जिस्टेंस का दूसरा आयाम न होने का जगत है जगत नहीं भी हो सकता हम जैन हम नहीं भी हो सकते जो भी है वो नहीं हो सकता नहीं होने का आप ये मतलब मत लेना कि कोई दूसरे रूप में हो जाए बिल्कुल नहीं भी हो सकता है अस्तित्व एक पहलू है अनस्तित्व दूसरा पहलू है सोचना कठिन मालूम पड़ता है कि नहीं होने से होना कैसे निकलेगा होना नहीं होने से कैसे प्रवेश कर जाएगा लेकिन अगर हम जीवन को चारों ओर देखें तो हमें पता चलेगा कि प्रतिपल जो नहीं है वो हो रहा जो है वो नहीं होने में हो रहा ये सूर्य है हमारा वो रोज ठंडा होता जा रहा है उसकी किरण शून्य में खोज जा रही है वैज्ञानिक कहते हैं कि चार हजार वर्ष तक और गर्म रह सकेगा चार हजार वर्ष में इसकी सारी किरणें शून्य में खो जाए सर्वों की शून्य हो जाए अगर शून्य में किरणें खो सकती है तो फिर शून्य से किरणें आती भी होंगी अन्यथा सूर्यों का जन्म कैसे होगा विज्ञान कहता है कि हमारा सूर्य मर रहा है लेकिन दूसरे सूर्य दूसरे छोरों पर पैदा हो रहा है वे कहां से पैदा हो गए स्कूल से पैदा हो रहे वे कहते हैं कि जब कुछ नहीं था उपनिषद भी बात करते हैं उस क्षण की जब कुछ नहीं था बाइबल भी बात करती है उस क्षण की जब कुछ नहीं था न कुछ ही था नकी ही थी उस नापुष से होना पैदा होता है होना प्रतिपल नापुष में भी होता चला जाता है अगर हम पूरे अस्तित्व को एक समझे तो इस अस्तित्व के निकट ही हमें अनस्तित्व को भी स्वीकार करना पड़ेगा योग का दूसरा सूत्र है प्रत्येक अस्तित्व के पीछे अनस्तित्व जुड़ा है तो शक्ति के दो आयाम हैं अस्तित्व और अनस्तित्व शक्ति हो भी सकती है नहीं भी होगा मिलना में भी होगा इसलिए योग मानता है कृत की सिर्फ एक पहलू है प्रलय दूसरा पहलू ऐसा नहीं है कि सब कुछ सदा रहेगा खोएगा शून्य ही हो जाएगा फिर फिर होता रहेगा खोता रहेगा जैसे बीज को तोड़कर देखे तो कहीं किसी वृक्ष का कोई पता नहीं कितना ही खोज वृक्ष की कभी कोई खबर नहीं है लेकिन फिर इसे छोटे से बीच वृक्ष आता जरूर कभी हमने नहीं सोचा कि बीच में जो कभी भी नहीं मिलता है वो कहां से आता है और इतने छोटे से बीच में इतने बड़े वृक्ष का छिपा हो फिर वो वृक्ष बीजों को जन्म देगा फिर खो जाता है ठीक ऐसे ही पूरा अस्तित्व बनता है होता है शक्ति अस्तित्व में आती और अनस्तित्व में चले जाती अनस्तित्व को पकड़ना बहुत कठिन अस्तित्व को तो हमें दिखाई पड़ता है इसलिए योग की दृष्टि से जो सिर्फ अस्तित्व को मानता है जो समझता है कि अस्तित्व ही सब कुछ है वो अधूरे को देखता है और अधूरे को जानना ही अज्ञान अज्ञान का अर्थ न जानना नहीं अज्ञान का अर्थ अधूरे को जानना जानते तो हम हैं ही अगर हम इतना भी जानते हैं कि मैं नहीं जानता तो भी मैं जानता तो भी जानना तो हमने है ही इसलिए अज्ञान का अर्थ तो न जानना नहीं है अज्ञानी से अज्ञानी भी कुछ जानता नहीं है अज्ञान का अर्थ योग की दृष्टि में आधे को जानना है और ध्यान रहे आधा सत्य असत्य से बदतर हो जाए क्योंकि असत्य से छुटकारा संभव है आधे सत्य से छुटकारा बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो सत्य ही मालूम होता है और सत्य होता ही नहीं प्रतीक भी होता है सत्य और सत्य होता है अगर असत्य हो पूरा का पूरा निखालित असत्य हो तो उससे छूटने में देर नहीं लगेगी लेकिन अधूरा आधा सत्य हो तो उसको उससे छूटना बहुत मुश्किल होता है और भी एक कारण है कि सत्य जैसी चीज आधी नहीं की जा सकती आधे करने से मरता है क्या आप अपने प्रेम को आधा कर सकते हैं क्या आप ऐसा कर सकते हैं किसी से बिना तुम्हें आधा प्रेम कर लो या तो प्रेम करेंगे या नहीं करेंगे आधा प्रेम संभव नहीं क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि मैं आधी चोरी करता हूं हो सकता है आधे रुपए की चोरी करते हो लेकिन आधे रुपए की चोरी पूरी ही चोरी है लाख रुपए की चोरी भी पूरी चोरी आधा पैसे की चोरी की पूरी चोरी चोरी आधी नहीं की जा सकती आधी चीजों की की जा सकती हो लेकिन चोरी आधी नहीं हो आधा आधे का अर्थ ही यह है कि आप किसी धन में तो योग कहता है जो लोग सिर्फ अस्तित्व को देखते हैं वे आधे को पकड़े हैं और आगे को तो जो पकड़ता है वो धन में जीता है वो अज्ञान में जीता है उसका दूसरा कर्म भी है जो आदमी कहता है कि मैं जन्म तो लिया हूं लेकिन मरना नहीं चाहता वो आदमी आदमी को पकड़ रहा है दुख पाएगा अज्ञान में जिएगा और कुछ भी करे मौत आएगी क्योंकि आदमी को काटा नहीं जा सकता जन्म को स्वीकार किया है तो मौत उसका आधा हिस्सा है वो शांति जोड़ा है जो आदमी कहता है मैं सुख को ही चुनूंगा दुख को नहीं फिर भूल में पड़ रहा योग कहता है तुम आदमी को चुनते ही गलती में पड़ जाओ दुख सुख का ही दूसरा हिस्सा वो आधा हिस्सा इसलिए जो आदमी सुखी होना चाहता है उस आदमी को दुखी होना ही पड़ेगा जो आदमी शांत होना चाहता है उसे अशांत होना ही पड़ेगा कोई उपाय नहीं योग करता है आगे को छोड़ देना ही अज्ञान वो उसका भी हिस्सा है लेकिन हम देखते हैं बुरे को जो पहलू हमें दिखाई पड़ता है उसे हम पकड़ लेते हैं और दूसरे पहलू को इनकार किए चले जाते हैं बिना ये समझे कि जब हमने आधे को पकड़ लिया तो आधा पीछे प्रतीक्षा कर रहा है मौजूद है अवसर की खोज कर रहा है जल्दी ही प्रकट हो जाए योग कहता है कि ऊर्जा के दो रूप है और जो दोनों ही रूप को समझ लेता है वो योग में प्रति कर पाता है जो एक रूप को आधे को पकड़ लेता है वो अयोगी हो जाता है जिसको हम भोगी कहते हैं वो आधे को पकड़े हुए आदमी का नाम जिसे हम योगी कहते हैं वो पूरे को छूते हुए का नाम योग का मतलब भी होता है दी टोटल योग का मतलब होता है जोड़ गणित की भाषा में भी योग का मतलब जोड़ होता है अध्यात्म की भाषा में भी योग का मतलब होता है इंटीग्रेटेड टोटल पूरा समझ भोगी हम उसे नहीं कहते जो योग का दुश्मन है भोगी हम उसे कहते हैं जो आधे को पकड़ता और आधे को पूरा मान के जीता है योगी पूरे को जान लेता है इसलिए फिर पकड़ता ही नहीं ये भी बड़े मुझे की बात है पकड़ने वाले सदा आधे को ही पकड़ने वाले होते हैं पूरे को जान लेने वाला पकड़ता नहीं जिसको ये दिखाई पड़ गया कि जन्म के साथ मृत्यु है अब वो किस लिए जन्म को पकड़े और वो मृत्यु को भी क्यों पकड़े क्योंकि वो जानता है मृत्यु के साथ जन्म जो जानता है कि सुख के साथ साथ दुख है उस सुख को क्यों पकड़े और वो दुख को भी क्यों पकड़े क्योंकि वो जानता है दुख के साथ सुख असल में वो जानता है सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू में दो चीजें नहीं एक ही चीज के दो आयाम दो डायमेंशन इसलिए योगी पकड़ने के बाहर हो जाता है क्लिंगिंग के बाहर दूसरा सूत्र ठीक से समझ लेना जरूरी है कि ऊर्जा शक्ति के दो रूप है और हम सब एक रूप को पकड़ने की कोशिश में लगे होते कोई जवानी को पकड़ता है तो फिर बुढ़ापे का दुख पाता है वो जानता नहीं कि जवानी का दूसरा हिस्सा बुढ़ापा असल में जवानी का मतलब है वो स्थिति जो बूढ़ी हुई जा रही है जवानी का मतलब है बुढ़ापे की यात्रा बुढ़ा आदमी उतने जोर से बुढ़ा नहीं होता ध्यान रखना जितने जोर से जवान बुढ़ा होता बुढ़ा आदमी धीरे धीरे बुढ़ा होने लगता है जवान तेजी से बुरा होगा जवानी का मतलब ही बूढ़े होने की ऊर्जा बूढ़े का मतलब बीत गई जवानी की ऊर्जा है चुप गई जवानी की ऊर्जा है एक ही सिक्के के दो पहलू एक घर के बाहर का दरवाजा है एक घर के पीछे का दरवाजा है जन्म और मृत्यु सुख और दुख जीवन के सभी द्वंद अस्तित्व अनस्तित्व आस्तिक नास्तिक तो वो भी आध्यात्म को पकड़ते हैं इसलिए योग की दृष्टि में दोनों ही अज्ञान आस्तिक कहता है कि भगवान बस है आस्तिक सोच भी नहीं सकता कि भगवान का न होना भी हो लेकिन बड़ा कमजोर आस्तिक है क्योंकि ये भगवान को नियम के बाहर कर रहा है नियम तो सभी चीजों पर एक हालात है भगवान अगर है तो उसका न होना भी होगा नास्तिक उसके दूसरे हिस्से को पकड़ने को घटा भगवान नहीं लेकिन जो चीज नहीं है वो हो सकती और इतने जोर से कहना कि नहीं है इस डर की सूचना देता है कि उसके होने का भय अनुसन नहीं है कहीं की कोई जरूरत नहीं जब एक आस्तिक कहता है कि नहीं भगवान है ही और लड़ने को तैयार हो जाता तब वो भी खबर दे रहा कि भगवान के भी न हो जाने का डर उसे है अन्यथा क्या नहीं करता है कोई कहता है नहीं होना पड़े आस्तिक लड़ने को तैयार है क्योंकि वो भगवान का एक हिस्सा पकड़ रहा है वो बड़ी की बड़ी बात है चाहे अपना जन्म पकड़ो और चाहे भगवान का होना पकड़ो लेकिन दूसरे हिस्से को इनकार किया जा रहा है योग करता है दोनों को होना और न होना साथ ही साथ इसलिए योगी नास्तिक को भी कहता है कि तुम भी आ जाओ क्योंकि आधा सत्य है तुम्हारे पास आर्थिक को भी से तुम भी आ जाओ क्योंकि आशा सत्य ही है तुम्हारे पास और आधे सत्य आधे सत्य भी खतरनाक दूसरा सूत्र है द्वंद के बीच शक्ति का विस्तार अंधेरे और प्रकाश के बीच एक ही चीज का विस्तार दो चीजें नहीं लेकिन हमें लगता है दो चीजें वैज्ञानिक से पूछे वो कहेगा दो नहीं वो कहेगा जिसे हम अंधेरा कहते हैं वो सिर्फ कम प्रकाश का नाम है और जिसे हम प्रकाश कहते हैं वो कम अंधेरे का नाम है डिग्री का फर्क है इसलिए रात में पक्षी हैं जिनको दिखाई पड़ता है अंधेरा है आपका उनके लिए अंधेरा नहीं क्यों उनकी आंखें उतने धीमे प्रकाश को भी पकड़ने में संभव ऐसा नहीं है कि धीमा प्रकाश की पकड़ में नहीं आता बहुत तेज प्रकाश भी आंख की पकड़ में नहीं आता अगर बहुत तेज प्रकाश आपकी आंख में डाला जाए आंख दस साल उंगली हो जाए देख नहीं पा रही देखने की एक सीमा उसके नीचे भी अंधकार है उसके ऊपर भी अंधकार है बस एक छोटी सी सीमा से ज्यादा हमें प्रकाश दिखाई पड़ता है लेकिन जिसे हम अंधकार रखते हैं वो भी प्रकाश की तरफाएं वे भी डिग्री उनमें जो अंतर है क्वालिटेटिव नहीं क्वांटिटेटिव गुण का कोई अंतर नहीं है सिर्फ परिमाण का अंतर गर्मी और सर्दी पर कभी ख्याल क्या हम समझते हैं दो चीजें नहीं दो चीजें नहीं गर्मी सर्दी से समझना बहुत आसान पड़ेगा लेकिन हम करेंगे दो चीजें हैं जब गर्मी बढ़ती सूरज की तब हम कैसे मान लें कि ये वही है जब शीतल छाया में बैठते तो शीतल छाया को हम कैसे सूरज की गर्मी मान लें नहीं मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप एक मान के शीतल छाया में बैठना छोड़ दें मैं इतना ही कह रहा हूँ कि जिसे आप शीतल छाया कर रहे हैं वो गर्मी की ही कम मात्रा है और जैसे आप सब धूप कर रहे हैं तो वो शीतलता की ही कम हो गई मात्रा है कभी ऐसा करें कि एक हाथ को स्टोव से पास करके गर्म कर लें और एक को बर्फ कर रखे ठंडा कर और फिर दोनों हाथों को एक बाल्टी भरे पानी में डाल दें तब आप बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे कि बाल्टी का पानी गर्म है या ठंडा है एक हाथ रहेगा ठंडा है एक हाथ रहेगा गर्म और एक ही बाल्टी का पानी दोनों नहीं हो और आपके दोनों हाथों में से दो खबरें आ रही जो हाथ ठंडा है उसे पानी गर्म मालूम होगा जो हाथ गर्म है उसे पानी ठंडा मालूम होगा ठंडक और गर्मी रिलेटिविटी है सापेक्ष योग का दूसरा सूत्र है जीवन मृत्यु अस्तित्व अनस्तित्व अंधकार प्रकाश बचपन बुढ़ापा सुख दुख सर्दी गर्मी सब रिलेटिविटी सब सापेक्षताएं ये सब एक ही चीज के नाम बुराई भलाई यह जरा प्रश्न ही हो क्योंकि ठंडे और गर्मी को मान लेना बहुत आसान है एक ही होंगी कुछ तो अर्थ भी नहीं होता लेकिन राम और राम लड़ाते हो रहेगा ऐसा कैसे हो लेकिन राम और रामायण भी है वे भी दो तो विरोधी चीजें नहीं एक ही चीज का कम ज्यादा होना राम में रामायण जरा कम है रामायण में राम जरा कम इसलिए जो रावण को प्रेम करे उसमें राम दिखाई पड़ सकता और जो राम राम की दुश्मनी करे उनमें भी रावण दिखाई पड़ता है तो जिसे हम प्रेम करते हैं उसमें राम दिखाई पड़ने लगता है जिसे हम नहीं प्रेम करते हैं उसमें राम दिखाई पड़ने लगता है राम में भी बुरा देखने वाले लोग मिल जाएंगे राम में भी बुरा देखने की कोई कमी नहीं आप के हाथ पर निर्भर करेगा और राम और रावण को अगर एक ही बाल्टी में रखा जा सके तो आसानी से रखना मुश्किल अच्छाई और बुराई भी योग की दृष्टि में एक ही चीज से भेद इसका ये मतलब नहीं कि आप बुरे हो जाए इसका ये मतलब नहीं कि आप अच्छाई छोड़ दें योग का कुल कहना इतना है कि अगर अच्छाई को जोर से पकड़ा तो ध्यान रखना दूसरे पहलू पर बुराई भी पकड़ना आ जाएगी अच्छा आदमी बुरा होने से नहीं बच सकता और बुरा होने आदमी अच्छे होने से नहीं बच सकता इसलिए अच्छे से अच्छे आदमी को अगर थोड़ा उभार के देखेंगे तो बुरा आदमी भीतर बैठा नहीं जाए और बुरे से बुरे आदमी को जरा तलाश करेंगे तो अच्छा आदमी भीतर बैठा नहीं जाए ये बड़े मजे की बात है कि अगर हम अच्छे आदमियों के सपनों की जांच पड़ताल करें तो वो बुरे सब अच्छे आदमी आमतौर से बुरे सपने देखते हैं जिसने दिल में चोरी से को बचाया वो रात में चोरी कर देता कंपनसेशन करना होता है वो जो दूसरा हिस्सा है वो कहा जाए जिसने दिल में उपवास किया वो रात में राजमहल में निम्न से पहुंचा भोजन कर लेता जो दिन भर सदाचारी था रात में वासना के स्वप्न से घेर लेते इसलिए अगर भले आदमी को शराब पिला दें तब आपको पता चलेगा कि भीतर कौन बैठा शराब किसी को बुरा नहीं बना सकती शराब में व्यक्ति को गुण नहीं बुरा बना बनाने शराब में सिर्फ एक गुण है कि वो जो दूसरा जानवर उसे उभार दे इसलिए अक्सर शराब पीने वाले लोग शराब पीने के बाद अच्छे मालूम पड़े मैंने सुना है एक आदमी के बाबत के एक दिन वो शांत अपने घर लौटा उसकी पत्नी बहुत हैरान थी उसकी पत्नी ने कहा कि मालूम होता है तुम शराब पी के आ गए आदमी ने कहा कि कैसी बातें कर रही मैंने शराब बिल्कुल नहीं पी है उसकी पत्नी ने कहा कि तुम्हारा व्यवहार बता रहा है तुम पी के आ गए उस आदमी ने कहा परमात्मा कैसी अजीब दुनिया वो रोज शराब पी के आता था आज पी के नहीं आया लेकिन शराब पी के आता था उसके भीतर का अच्छा आदमी प्रकट होता रहा आमतौर से जिन्हें हम बुरे आदमी कहते हैं उनके भीतर अच्छा आदमी छुपे और जिनको हम अच्छे आदमी कहते हैं उनके भीतर बुरा आदमी छुपे रहते हैं हालांकि जब अच्छे आदमी के भीतर का बुरा आदमी काम करता है बुरा तो भी अच्छे का बहाना लेकर है अगर अच्छा बाप अपने बेटे की गर्दन दबाता है तो सीधी भी दबा देगा सिद्धांत नीति शिष्टाचार अनुशासन इन सब का बहाना लेकर दबाता है अगर अच्छा शिक्षक दंड देता है तो जिसको दंड देता है उसी के हित में देता है अच्छा आदमी अगर बुरा भी करता है तो अच्छी खूंटी पर ही टांगता है बुराई को और बुरा आदमी अगर अच्छे काम भी करता है तो स्वभाव का उसके पास बुराई की खूंटी नहीं होती वो उसी से टांगता लेकिन जो भी एक पहलू को पकड़ेगा उसके भीतर दूसरा पहलू सदा मौजूद रहे योग कहता है दोनों को तो समझ लो और पकड़ो मत इतनी जब पहली बार योग की खबर पश्चिम में पहुंची तो वहां के विचार बहुत हैरान हुए क्योंकि उन विचार को मिलता है इस योग में नीति की मॉरलिटी की तो कोई जगह नहीं है ये सारे योग में कुछ नैतिकता का स्थान नहीं मालूम पड़ता जिन लोगों ने पश्चिम में पहली बार योग की खबर सुनी उन्होंने कहा कि इसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ जैसा कि टेन कमांडमेंट से ईसाई हो गया ये मत करो ये मत करो ये मत करो ये बुरा है ये बोला है ये बुरा दोनों की कोई बात नहीं है ये कैसा योग लेकिन विज्ञान कभी भी पक्ष की बात नहीं करता विज्ञान तो निष्पक्ष दोनों बातें को तो खोल के रख देता है योग कहता है ये बुराई है ये अच्छाई है और दोनों एक ही सिक्के से सरल हूँ अगर तुम एक को भी पकड़ोगे तो दूसरा तुम्हारे भीतर छिपा हुआ मौजूद रहेगा तुम दोनों को समझ लो और पकड़ो योग अच्छे और बुरे का ट्रांसेंडेंस दोनों के पार हो जाता है योग सुख और दुख का अतिक्रमण योग जन्म मृत्यु का अतिक्रमण योग अस्तित्व अनस्तित्व का अतिक्रमण दोनों के पार बियॉन्ड ये दूसरा सूत्र ठीक से समझ ले तो आगे बहुत सी बातें सुनने की आपको हो जाएगी प्रत्येक चीज का दूसरा पहलू सदा मौजूद है इसलिए जब भी आप एक चीज पकड़ते हो ध्यान में ले लेना उससे उल्टा भी आपने पकड़ लिया जब आपने किसी को प्रेम से कहा है कि अब मैं तुम से मिल गया अब मैं कभी बिछोड़ना न चाहूंगा तब आप ठीक से समझ लेना कि आपके मिलन में विरह मौजूद वो घटित होकर रहेगा असल में मिलते वक्त भी प्रेमी यही करता है कि मुझे बहुत डर लग रहा है कि कहीं हम बिछोड़ ना जाए वो दूसरा कर्म उसको भी पता चल रहा है नहीं तो मिलते क्षण में बिना की क्या बात जब मिलेंगे तो, तो मिले लेकिन मिलते क्षण में मेरे पीछे छाया की तरह खड़ा जब किसी को मित्र बनाए तब समझ लेना कि एक आदमी और पोटेंशियल इन्हीं एक आदमी और शत्रु पैदा कर दिया ये तो पक्का है कि बिना मित्र बनाए शत्रु नहीं बनाया जा सकता सीधा शत्रु बनाने का अब शत्रु कोई उपाय नहीं हो जाता शत्रु को भी मित्र होने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है अगर शत्रु भी बनना हो तो मित्र होने के रास्ते से ही जाना है तो जब मित्र बनाए तब योग करता है जानना की शत्रु छाया की तरह पीछे खड़ा जीवन के प्रत्येक भाग में विपरीत को सदा स्मरण रखना तो क्लीन पकड़ छूट जाएगा सत्सु आपके द्वार पर दस्तक देगा तो आप उसके पीछे झांक कर देख लेंगे कि जो को जरूर झांक लाया होगा लाता ही जरूर आया उसके बिना भी आता है और जब सुख आए तो योग में प्रवृत्त व्यक्ति के लिए सुख आता है तो आ जाने देता है बहुत स्वागत नहीं करता क्योंकि वो जानता है कि पीछे तुम किसको दिए और जब दुख आता है तब उसे भी स्वागत से बिठा देता है क्योंकि वो जानता है कि तुम किसे पीछे लिए हो सुख और सुख में वो सम हो जाता है सम का सिर्फ एक ही आधार है कि प्रत्येक चीज अपने विरोधी से अनिवार्य रूप से जुड़ी है विरोध के बिना अस्तित्व नहीं जिससे हमने प्रेम किया है उससे हमने घृणा के बीच बो दिया जिससे हम मिले हैं उससे हमने ग्रह का मार्ग तय किया है जिसे हमने अपना बनाया उसे हमने पराया बनाने के सूत्र सिखा दिया जो यशस्वी हुआ उसने अपने अपमान के लिए बीज बोए जो जीता उसने हार को निमंत्रण दिया लाओ से एक दिन अपने मित्रों को कहा था कि मुझे जिंदगी में कोई हरा नहीं सका स्वभाव था उसके मित्र उत्सुक हो गए उन्होंने पूछा हमें भी बताओ वो राज वो सीक्रेट कि तुम्हें कोई क्यों नहीं सका हम भी किसी से हारना नहीं चाहते तब लाहौल से खिलखिला कर हंसने लगा और उसने कहा गलत लोगों को मैं सूचना बताऊंगा तो कहा कितने गलत लोग हमें जरूर बताओ वो मार्ग जिससे हम भी ना हार सके लाहौल का तुम तो हारोगे ही क्योंकि जो हारना नहीं चाहता उसने हार को तो निमंत्रण दे दिया हमारा सूत्र यही है कि हमें कोई कभी हरा न सका क्योंकि हमने कभी जीतना ही न चाहा क्योंकि जो जीतना चाहेगा वो हारेगा लाभ से जंगल से गुजरता आएगी खुशियों को लेकर सारा जंगल कर रहा है हजारों कारीगर वृक्षों को काटते सिर्फ एक वृक्ष है जो की खड़ा उसे कोई छूटा भी नहीं नाउसे ने कहा कि जाओ इस वृक्ष से पूछो कि इससे बचने का राज क्या क्या ऐसे योग के सूत्र पता क्या ये ताओ को जान गया जब सारा जंगल सकता है तो ये वृक्ष क्यों नहीं सकता लाउसे ने कहा ना उससे शिष्य गए मुश्किल में वो पड़े कि वृक्ष से क्या पूछेंगे वृक्ष के चारों तरफ घूमे लेकिन वृक्ष से क्या पूछे बात सकती एक पत्ता भी किसी ने नहीं छोड़ा एक शाखा भी नहीं करी एक हजार बैलगाड़ियों ठहर सके इतने दूर तक उसकी शाखाओं का फैलाव बड़ी धूप छाया फिर तो उन्होंने सोचा कि चल के हम इन कारीगरों से ही पूछ लें जो पौध की वृक्षों को काटते उन कारीगरों से उन्होंने पूछा कि इस वृक्ष से बचने का राज क्या है इसे तू नहीं काटा उन कारीगरों ने कहा कि वृक्ष बहुत अधिक इसकी लकड़ियां इतनी इनकी तिरछी है कि वे फर्नीचर से काम नहीं आ तो उन्होंने कहा काट के कम से कम ईंधन तो बना सकते हो उन्होंने कहा वृक्ष बढ़ा दी इससे इतना धुआं छूटता ये उसका कोई नहीं बना उन्होंने कहा ये वृक्ष बिल्कुल बेकार इसको काटना बेकार मेहनत खराब करनी उन्होंने लौट के लाओ से कहा कि राज ये कि वृक्ष बिल्कुल बेकार है लकड़ियां सीधी नहीं धुआं छोड़ती है पत्ते किसी दवा के काम नहीं आते कोई जानवर पत्ते खाने को राजी नहीं है ये व्रत बड़ा विकार लाउस का विधन नहीं है व्रत इसके शाखाओं में सीधे होने की कोशिश नहीं की इसलिए वो कटने से बचते जो वृक्ष सीधे होने की कोशिश किए देखते वो कटे जा रहे इस वृक्ष के पत्तों ने कुछ होने की कोशिश नहीं स्वादिष्ट होने की कोशिश नहीं इसलिए कोई तोड़ने नहीं आया ये व्रत कुछ होने की कोशिश नहीं किया इसलिए है और अपने पूरे आनंद में मत लाउसनों का यही तरकीब मेरी है मुझे कभी कोई हारा नहीं पता क्योंकि हम जीतने ही नहीं गए मैं पता से हारा ही हुआ हूँ इसलिए मुझे हराना मुश्किल एक बार लाहौसे का एक आदमी ने सुन कहिए कि कि से को कोई हरा नहीं सका एक गांव में मुझे चुनौती कर दी गांव में लाभ से रुका था किसी से कहा होगा कि मुझे कभी कोई हरा नहीं सका गांव में खबर पहुंच गई किसी पहलवान ने समझा कि चुनौती उस पहलवान ने आज लाहौल से दरबार में झंडा गाड़ दिया और कहा कि मैं तुम्हें हराऊंगा लाहौल से ने कहा नहीं हरा सकाऊंगा उसने कहा मैं अभी हरा कर तो दिखाऊंगा वहां दिन खत्ती हो गई वो पहलवान अपनी निरोटी बांध कर पुल पर ताकत लगा के भगवान का नाम लेकिन लाओ से उसके सामने चिप ले गया और उसके साथ ही आ मेरे ऊपर बैठा पहलवान ने कहा कि तुम आदमी कहते हो तुम्हें तो हराने का मजा ही चला है लाउसेन का मैंने पहले ही कहा कि मुझे अब तक कोई हरा नहीं सका क्योंकि हम पहले से ही हारे हुए हम जीतना नहीं चाहते आओ मैं छाती में बैठ जाओ और गांव में दूध पीट कर कह दो कि हरा चित्र कर दिया तो पहलवान ने कहा कि ऐसे आदमी के ऊपर बैठ कर देखा वो पहलवान उसके पैर छूके अपने घर चला छोटा की झगड़ा किया योग कहता है द्वंद्व में चुनाव व्यर्थ योग कहता है वो जो दो दिखाई पड़ते हैं जीवन में सदा उनमें चुनना ही मत वे दोनों एक ही दूसरे के रूप सिर्फ धोखा चेहरा और पीछे कुछ और अस्तित्व अनस्तित्व जीवन मृत्यु सुख दुख अच्छा बुरा नीति अनीति धर्म अधर्म सब एक ही चीज के अनुसार साधु चोर सब एक ही चीज के अनुसार इनको चुनना ही मत इनको समझ लेना इनको समझ लेने से अतिक्रमण का उपलब्ध होता है योग का दूसरा सूत्र शक्ति ऊर्जा अस्तित्व और अनस्तित्व में दो ही रहते और जहाँ पहाड़ उठते हैं शक्ति के वहां शक्ति की खाइया भी बन जाती और जहाँ अस्तित्व निर्मित होता है वहाँ अनस्तित्व भी मौजूद होता है जहाँ सृष्टि होती है वहाँ प्रलय भी होता है इसलिए इस देश ने सृजन को अकेला नहीं सांस में प्रलय को भी एक सांस सोचा सृष्टि के साथ प्रलय होने के साथ ना होना सब चीजें जो होती हैं ना होने की यात्रा कर रही और जो नहीं हो गई है वो होने की यात्रा पर वापिस लौट रही सागर में आपने लहर देखी जो लहर ऊपर उठी है वो गिरने की यात्रा पर और जो खाई से नीचे बन गई है वो उठने की यात्रा सब चीजें प्रतिपल अपने से विपरीत में प्रवेश कर रही सब चीजें अपने से विपरीत में प्रवेश कर रही जिसे ये दिखाई पड़ जाता है उसकी आकांक्षा उसकी कामना उसकी वासना तिरोहित हो जाए छोड़ता नहीं है वो वासना वासना तिरोहित हो जाए क्योंकि वासना चुनाव और स्वायत्त का नाम योग का तीसरा सूत्र अस्तित्व के दो रूप मैंने कहा ऊर्जा एक सूत्र दूसरा ऊर्जा के दो रूप अनस्तित्व अस्तित्व से तीसरा सूत्र अस्तित्व के दो लोग एक जिसे हम चेतन कहें और एक जिसे हम अचेतन कहें लेकिन दो रूप ही थे दो चीजें हुई जिन्हें हम धार्मिक लोग कहते हैं वे भी दो चीजें समझ लेते हैं वे भी समझ लेते हैं कि चेतना अलग अचेतना अलग शरीर अलग आत्मा अलग ऐसी अलगता नहीं ठीक से समझे तो आत्मा का जो हिस्सा इंद्रियों की पकड़ में आ जाता है उसका नाम शरीर और शरीर का जो हिस्सा इंद्रियों की पकड़ में नहीं आता उसका नाम आत्मा है चेतन और अचेतन अस्तित्व के दो रूप हैं एक पत्थर पड़ा है वो है लेकिन अचेतन है आप उसके पड़ोस में खड़े आप भी है होने में कोई फर्क नहीं दोनों एग्जिस्टेंट दोनों का अस्तित्व लेकिन एक चेतन और एक लेकिन पत्थर चेतन बन सकता है और आप पत्थर बन सकते हैं कन्वर्टी बन सकते इसलिए तो आप गेहूं खा लेते हैं और खून बन जाता है इसलिए तो आपके शरीर में लोहा जाता है और जीवन खो अगर हम आदमी के शरीर का सब सामान निकाल के बाहर टेबल रखें तो कोई पांच रुपए से ज्यादा का सामान नहीं निकलता थोड़ा सा लोहा है अल्मोनियम है फॉस्फोरस है तांबा है इस सब चीजें जो बड़ा हिस्सा तो पानी का है कोई पांच रुपए का सामान आदमी के भीतर लेकिन आदमी के भीतर होते वो चेतन और जीवित हाथ को चोट लगती है तो पीड़ा उठती और यही हाथ का हिस्सा कल बाहर था और पीड़ा नहीं उठती कल फिर बाहर हो जाए जिस जगह आप बैठे हैं उस जगह कम से कम दस आदमियों की कब्र बन चुकी है एक एक आदमी की जगह पूरी पृथ्वी पर जितने लोग अवसर हुए हैं उन सबका अनुपात इतना है कि जहां भी हम खड़े हैं उस जमीन की मिट्टी में उस छोटे से एक वर्ग फीट के हिस्से में कम से कम दस आदमियों का करीब मृत्यु हो चुका है वे दसों आदमी कभी जीत आज आपके पैर में दूध की जरूरत पड़े आज आप जीत कितने देर तक कल आप दूध की तरह पड़े चेतन और अचेतन अस्तित्व के दो रूप दो अस्तित्व नहीं है अस्तित्व के ही दो इसलिए कन्वर्टिव अर्थ है रूपांतरित हो सकते हैं इसलिए चेतन से अचेतन आ सकता है अचेतन चेतन से जा सकता है रोज हो रहा है रोज हम यही कर रहे हैं रोज हम जल अचेतन को भोजन बना रहे हैं और हमारे भीतर वो चेतन बन जाता है और रोज हमारे भीतर से मन में हो रहा है बहुत ही होंगे और जड़ होता जा रहा है आदमी इधर से चेतन होता उधर से अचेतन होता इधर से अचेतन को लेता और भीतर चेतन होता जा चेतन और अचेतन भी दो चीजें नहीं इसमें भी बड़ी भूल होती रही नास्तिक कहते हैं सिर्फ अचेतन लेकिन उनको बड़ी मुश्किल पड़ती समझाने उनको तो मुश्किल पड़ती है कि अगर सिर्फ अचेतन ही है तो फिर चेतन कहाँ से आता है तो फिर मार्ग जैसे नास्तिकों को करना पड़ता है इसी फिनोमिना ये बाई प्रोडक्ट चेतना कोई असली चीज नहीं ये तो पदार्थ के मिलने जुलने से पैदा हो गई घटना ये कोई वस्तु नहीं है इवेंट चार बात को तो कहना पड़ता है कि आदमी की चेतना वैसे ही है जैसे पान वाला पान बनाता है कत्था और चूना को लगाता है और फिर जब आप पान खाते हैं तो लाल रंग पैदा हो जाता है वो लाल रंग ना तो अकेले सीने में है न अकेले सत्य में है न अकेले पान में है उन सबके मिलने से पैदा हो जाता है वो संघर्ष परिणाम वो बाई प्रोडक्ट वो इसी फैनमिनाम जैसे कि शराब बनती है जिन जिन चीजों से बनती है उनको अलग अलग लेने तो नशा नहीं आता इकट्ठा करके लेने तो नशा आ जाता तो नास्तिक को चाहे चार हो या चाहे मार्क्स हो उनकी भाषा में थोड़ा फर्क पड़ता है बल्कि उनकी कठिनाई यही है कि चेतना दिखाई तो पड़ती है इसे समझाएं कैसे तो एक ही रास्ता है उनके पास कि वो ये कहें कि अचेतन चीजों से मिलकर चेतना पैदा हो जाती है लेकिन ये बड़ी अवैज्ञानिक बात और मार्ग जैसे वैज्ञानिक होने का दावा करने वाले आदमी के मुंह में बिल्कुल शोभा नहीं क्योंकि जिससे जो चीज पैदा होती है वो उसमें कहीं ना कहीं छुपी होनी चाहिए अन्य साधारण नहीं होता अगर पान में दालगन आ जाता है तो माना कि एक एक चीज में अलग वो नहीं था लेकिन वो लाजन उन सब में छिपा था जुड़ के प्रकट हुआ अलग अलग में दिखाई नहीं पड़ता ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग अलग अगर हम पी लें तो प्यास नहीं बुझेगी न हाइड्रोजन में पानी है और न ऑक्सीजन में पानी लेकिन दोनों को मिला के पानी मिल जाएगा और फिर प्यास बुझ जाएगी ये पानी कहां से आया ये पानी ऑक्सीजन और आयोजन में था लेकिन दोनों मिले तो ही प्रकट हो सकता है आप अकेले कमरे में बैठे हुए मैं आपके कमरे में आ गया और हम दोनों ने बातचीत शुरू कर दी ये बातचीत आसमान से नहीं आ गई मेरे भीतर भी थी आपके भीतर भी थी लेकिन अगर आप अकेले कमरे में बोलते तो पागल समझे जाते न आ गया तो अब आप पागल नहीं समझे जाते प्रगट होने की सुविधा हो जो भी चीज प्रकट होती है वो जिनसे प्रकट होती है उनमें गुप्त होती स्थिति होती इसलिए नास्तिकों के ये दावे कि चेतना पदार्थ से ऐसे ही प्रकट हो गई है ऐ नहीं सी नहीं अत्यंत अवैज्ञानिक योग मानने को तैयार नहीं आस्तिक भी इससे उल्टी बातें करते हैं उनकी भी तकलीफ यही है उल्टे हिस्से वो कहते हैं पदार्थ है ही नहीं जड़ कुछ है ही नहीं सब परमात्मा ही परमात्मा तो फिर सवाल उठता है कि ये सब जो चारों तरफ दिखाई पड़ रहा है कहां से पैदा होता है तो संगत कहते हैं माया इल्यूजन है नहीं वो कहते हैं ये भी इसी नाम ये भी सैलो एग्जिस्टेंस ये है नहीं वही तकलीफ जो नास्तिक की है वही तकलीफ आस्तिक की तकलीफ यह है कि दूसरे को कैसे समझाओगे वो भी है तो उसके लिए फिर चक्कर तर्क खोजने पड़ते और वो तर्क कभी भी को सिद्ध नहीं कर पाते योग कहता है दोनों से इसलिए योग किसी चक्करदार तर्क में नहीं पड़ता वो कहता है दोनों और वो ये भी कहता है दोनों दो नहीं है अन्यथा फिर दोनों को जोड़ने का उपद्रव होगा कि दोनों को जोड़े कैसे दोनों एक ही के दोनों जैसे मेरे दोनों हाथ बाएं और दाएं ये दो दिखाई पड़ते हैं ये मेरे लिए दो नहीं है ये आपको दिखाई पड़ते दो मालूम होंगे मेरे लिए एक ही शक्ति दोनों पर फैली हालांकि मजे की बात है मैं चाहूं तो दोनों हाथों को लड़ा सकता हूं और दोनों एक ही ऊर्जा चेतन और अचेतन अस्तित्व के एक ही अस्तित्व के दो छोर चेतन अचेतन हो सकता है अचेतन चेतन होता रहता है ये तीसरा सूत्र है योग का ये सूत्र समझ जरूरी है क्योंकि सिर्फ इन्हीं सूत्रों के ऊपर योग की सारी साधना का भवन खड़ा होता है चेतन अचेतन अब विज्ञान को जाती हो गई है ये बात भी अब विज्ञान एक नए शब्द का प्रयोग करता है वो मैं आपसे कहूं नई मेडिसिन अब किसी बीमारी को पहले बीमारियां दो तरह की समझी जाती थी फिजिकल और मेंटल एक मानसिक बीमारी है और एक शारीरिक बीमारी क्योंकि मन अलग है और शरीर अलग अब चिकित्सा शास्त्र एक नए शब्द का प्रयोग करता है साइको सोमेटिक या सोमेटो साइकिक अब चिकित्सा शास्त्र कहता है कोई बीमारी ना तो अकेली मानसिक है और ना अकेली शारीरिक बीमारी मनोशारीरिक सोमेटिक दोनों ही छोर उसके अगर आपका मन बीमार हो जाए तो आपका शरीर भी बीमार हो जाए और अगर आपका शरीर बीमार हो जाए तो आपका मन भी बीमार हो जाए जब हम आपको शराब पिलाते तो आपके मन को नहीं पिलाते शराब तो आपके पेट में जाती आपके लीवर में जाती आपके पाचन यंत्र में जाती आपके मन में नहीं जाती शराब लेकिन जैसी शराब शरीर में जाती तो मन बात में बदल जाता है नहीं बदल सही बदलेगा तो शराब तो शरीर में गई लेकिन मन का प्रभाव पहुंचेगा और जब मन रुग्ण होता चिंतित होता दुखी होता तो शरीर तत्काल उदास बीमार रुग्ण हो जाता अगर मन में बीमारी डाल दी जाए तो शरीर बीमार होता दस या बारह वर्ष पहले अमेरिका को एक कानून बनाना पड़ा एंटी हिप्नोटिक एक्ट बनाना पड़ा एक कानून बनाना पड़ा सम्मोहन के विरोध क्योंकि एक छोटे से कॉलेज के हॉस्टल में एक अनूठी की घटना घटते एक दुर्घटना घटते चार लड़के हिप्नोटिज्म की किताब पढ़ रहे और उसमें लिखा था कि मन जो भी मानने को राजी हो जाए वो हो जाए तो उन चारों ने कहा कि हम प्रयोग कर सकते और अपने पांच में साथी को उन्होंने लिटाया और जो किताब में लिखा था उस भांति बेहोशी के सुझाव दिए दस मिनट तक वो चारों लड़के कमरे अंधेरा करके जोर को लड़के से कहते रहे कि तुम बेहोश हो रहे हो तुम बेहोश हो रहे हो तुम बेहोश हो रहे हो वो लड़का दस मिनट में गहरी नींद सो गया और बेहोश हो गया जब उन्होंने उसके हाथ पर आलपीन चुभाई और उसे पता न चला और जब उन्होंने उसके मुंह में मिट्टी रख दी और कहा कि ये तुम मिठाई खा रहे हो और उसने मिठाई की तरह स्वाद को उस मिट्टी को खाया तब तो उनकी गति बढ़ती चली गई उन्होंने उस लड़के को उठाया नाचने के लिए कहा कि तुम रक्तकाव हो तो वो नाचने लगा और उसको उन्होंने कहा कि तुम पागल हो गए हो तो वो पागल हो गया फिर उन्होंने आखिरी बात पूछी उन्होंने उस लड़के से कहा कि अब तुम मर गए और वो लड़का मर गया इससे कानून बनाना पड़ा कि अब कोई व्यक्ति किसी को बिना उसकी आज्ञा के या सरकारी आज्ञा के या किसी यूनिवर्सिटी में रिसर्च करते समय या किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर के निरीक्षण में प्रयोग कर समय सम्मोहित कर सकता है हर कोई हर किसी को सम्मोहित नहीं कर सकता वो लड़का मर ही गया फिर उन्होंने बहुत कहा जब तुम जिंदा हो जाओ लेकिन वहां सुनने वाला कोई नहीं था तुम जिंदा हो वो मर ही उन्नीस सौ बावन में घटी इस घटना ने सारी दुनिया को चकित कर दिया जब आपको कोई दोस्ती बता देता है कि आप फला दिन मर जाएंगे तो मर सकते हैं इसलिए नहीं कि ज्योतिष सही कहता है बल्कि इसलिए कि अगर ये ख्याल आपके मन में बैठता है कि फला दिन मर सकते हैं तो जरूर मर जाएंगे ज्योतिष सही कहता है ऐसा नहीं लेकिन ये विचार अगर मन में गहरे बैठ जाए तो मृत्यु घटित हो सकती सब तरह की बीमारियां पैदा की जा सकती है मन में विचार डाल के और सब तरह की बीमारियों को प्रभावित किया जा सकता है ठीक होने की दिशा में मन में विचार डाल एक आदमी के घर में आग लगे वो दो साल से लकवे से बीमार पड़ा उसने उठ नहीं सब इलाज हो गए घर में आधी रात आग लगी तो सारे घर के लोग बाहर निकल गए जब बाहर निकले तब उन्हें ख्याल आया कि घर के बूढ़े का क्या होगा उनको तो लकवा है वो तो आ नहीं सकते लेकिन तभी तो उन्होंने देखा कि बुरा अकेला नहीं आ रहा अपने पैसों की पेटी लिए वहां से ला रहा तब तो वो बड़े पीड़ित हुए क्योंकि वो आदमी तो उठ भी नहीं सकता जब वो बीच में आकर खड़ा हो गया तब उन सबने कहा कि आप और चले उस आदमी ने कहा मैं और कैसे चल सकता हूँ वो वापस नहीं दे पा लगवा वापिस तो ये क्या हुआ इस आदमी को लकवा नहीं इस आदमी को मानसिक लकवा है इसके मन के छोर पर लकवा पकड़ रहा है शरीर को आंदोलन कर रहा है इससे उल्टा भी हो सकता है कि किसी आदमी के शरीर को लकवा पकड़ा हो और उसका मन अगर इनकार कर दे तो शरीर को लकवा चलाना मुश्किल होता है इसलिए जो लोग संकल्प मानते वे कैसी भी बीमारी से जूझ सकते हैं और जो लोग संकल्पहीन थे वे कैसी झूठी बीमारी से परेशान हो सकते हैं योग का कहना है कि हमारे भीतर शरीर और मन ऐसी दो चीजें नहीं हमारे भीतर चेतन और चेतन ऐसी दो चीजें नहीं हमारे भीतर एक ही अस्तित्व है जिसके लिए दो छोर और इसलिए किसी भी छोर से प्रभावित किया जा सकता है तिब्बत में एक प्रयोग है जिसका नाम गीत योग है उष्णता का योग तो तिब्बत में सैकड़ों फकीर हैं ऐसे जो नंगे वक्त पर बैठ कर रह सकते हैं और उनके शरीर से पसीना छूटा रहेगा इस सब की वैज्ञानिक जांच पर हो चुकी है इस सब की डॉक्टरी जांच पर हो चुकी है और चिकित्सक बड़ी मुश्किल में पड़ गए थी क्या हो रहा है आदमी बर्फ पर बैठा नंगा चारों तरफ बर्फ पड़ रही बर्फीली हवाएं बह रही और उसके शरीर पर पसीना था क्या हुआ है यह आदमी योग के सूत्र का प्रयोग करता है इसने मन से मानने से इंकार कर दिया कि बर्फ पड़ रही है आंख बंद करके ये कह रहा है बर्फ नहीं पड़ रही ये आंख बंद करके कह रहा है कि सूरज तपा है और धूप बरस रही और ये आदमी आंख बंद के कह रहा है कि गर्मी से तड़पा जा रहा है शरीर काम कर रहा है वो पसीना छोड़ रहा है दक्षिण में एक योगी थे ब्रह्म उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी रंगून यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड तीनों जगह कुछ प्रयोग करके दिखाए वे किसी भी तरह का जहर पी लेते और आधा घंटे के भीतर उस जहर को शरीर के बाहर के साथ से निकाल देते किसी भी तरह का जहर उनके खून में कभी मिश्रित नहीं होता था सब तरह के एक्सरे परीक्षण हुए और मुश्किल में पड़ गई बात की क्या मामला है और वो आदमी इतनी कहता था कि मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं मन को कहता हूँ कि मैं स्वीकार नहीं करूंगा क्या बस इतना मेरा अभ्यास लेकिन रंगून यूनिवर्सिटी में प्रयोग करने के बाद वो मर गए जो है स्कूल में पहुंच गया आधा घंटे तक ही उनका संकल्प काम कर पाता था आधा घंटे के पहले जहर को शरीर के बाहर कर देना जरूरी था आधा घंटे के बाद उनको भी शक होने लगता था कि कहीं जय मिल ही ना जाए आधा घंटे तक वो अपने संकल्प को मजबूत रख पाते थे आधा घंटे के बाद शक उनको भी पकड़ने लगता था कि कहीं जय मिल ना जाए शक बड़ी अजीब थी जो आदमी आधा घंटे तक जहर को अपने खून से दूर रखे उसको भी पकड़ जाता है कि कहीं पकड़ ना जाए जहर वो रंगून यूनिवर्सिटी से जहां ठहरे थे वहां के लिए कार से निकले और कार बीच में खराब हो गई और वो अपने स्थान पर तीस मिनट की बजाय पैतालीस मिनट में पहुंचता है लेकिन बेहोश पहुंचे वो पंद्रह मिनट उनकी मृत्यु का कारण बने सैकड़ों योगियों ने खून की गति पर नियंत्रण घोषित किया है कहीं से भी कोई भी वेन काट दी जाए खून उनकी आज्ञा से बढ़ेगा या बंद होगा ये तो आपकी छोटा मोटा प्रयोग करने तो बहुत अच्छा होगा अपनी नाड़ी को गिन ले और गिनने के बाद पांच मिनट बैठ जाए और मन में सिर्फ इतना सोच करें कि मेरी नाड़ी की रफ्तार तेज हो रही तेज हो रही तेज हो रही और पांच मिनट बाद फिर नाड़ी हो गई तो आप पानी की रफ्तार तेज हो गई कम भी हो लंबा प्रयोग करें तो बंद भी हो सकती है हृदय की धड़कन भी अति सूक्ष्मतम हिस्से तक बंद की जा सके खून की गति भी बंद की जा सके शरीर और मन ऐसी दो चीजें नहीं शरीर और मन एक ही चीज का विस्तार एक ही चीज के अलग अलग वेवलेंथ से चेतन और अचेतन एक का ही विस्तार योग के सारे के सारे प्रयोग इस सूत्र पर खड़े इसलिए योग मानता है तो शरीर से भी शुरू किया जा सकता है शरीर से भी शुरू की जा सकती है यात्रा और मन से भी शुरू की जा सकती है बीमारी भी स्वास्थ्य भी सौंदर्य भी शक्ति भी उम्र भी शरीर से भी प्रभावित होती है मन से भी प्रभावित होती है बलत था लंदन से कोई बीस मील दूर एक गांव को चुना था अपनी कब्र बनाने के लिए और मरने के कुछ दिन पहले उस गांव में जाकर रहने लगा उसके मित्रों ने कहा कि कारण क्या है गांव को सुनने का तो घनिष्ठा ने कहा इस गांव को सुनने का एक बहुत अधिक कारण तुम बताओ तो तुम हंसो लेकिन फिर कोई हर्ज नहीं तुम हंसना हंसना कारण बताता हूँ ऐसे ही एक दिन इस गांव में घूमने आया था इस गांव के कब्रिस्तान पर घूमने गया वहां एक कब्र पर मैंने पत्थर लगा देखा उसको देखते मैंने तय किया कि इस गांव में रहना चाहिए उस पत्थर पर लिखा था किसी आदमी की मौत का पत्थर था लिखा था ये आदमी सोलह सौ दस में पैदा हुआ और सत्रह सौ दस में बहुत कम उम्र में मर गया तो वर्णता ने कहा कि जिस गाँव के लोग सौ वर्ष को कम उम्र मानते हैं अगर ज्यादा जीना हो तो उसी गाँव में आना ये तो उसने मजाक ही था लेकिन वर्णता काफी उम्र तक जी आती उस गांव की वजह से किया ये तो कहना मुश्किल है लेकिन उस पत्थर को बना खाने चुना ये तो उसके मन का चुनाव ये ज्यादा जीने की आकांक्षा का कारण है ये हिस्सा उसके ज्यादा जिंदगी में कारण बन सकता है जिन मुल्कों में उम्र कम है उन मुल्कों में सभी लोग कम उम्र की वजह से मर जाते हैं ऐसा सोचना जरूरी नहीं है उन मुल्कों में कम उम्र होने की वजह से हमारी उम्र की अपेक्षाएं भी कम हो जाती हम जल्दी बूढ़े होने लगते हैं हम जल्दी मरने का विचार करने लगते हैं हम जल्दी तय करते हैं वक्त आ गया जिन मुल्कों में उम्र की अपेक्षाएं ज्यादा है उन्हें जल्दी कोई तय नहीं करता तो विवाह आया नहीं तो मरने का ख्याल जल्दी प्रवेश कर जाए तो जल्दी परिणाम आने शुरू हो जाएंगे मन मरने को राजी हो गया अगर मन मरने को राजी ना हो तो देर तक लंबा जाता है सारी बात इस पर निर्भर करती है कि हमारे व्यक्तित्व के दो हिस्से हैं चेतन और अचेतन और जगत के भी दो हिस्से हैं चेतन और अचेतन जिसे हम पदार्थ कर रहे हैं वो जगत का अचेतन हिस्सा है जिसे हम जीवन कर रहे हैं वो जगत का चेतन हिस्सा है इस सारे चेतन और इस सारे अचेतन में कोई विरोध नहीं ये दोनों एक दूसरे से संबंधित मैंने आपसे कहा कि नारी पर हाथ रखे तो नारी का फर्क पड़ जाए जब डॉक्टर भी आपकी नारी जांचता तब भी फर्क पड़ जाता उतनी ही रहती जितनी इसलिए कोई डॉक्टर कभी आपकी नारी की ठीक जांच नहीं कर सकता क्योंकि तो डॉक्टर का हाथ लगाने से आपके ऑब्जर्वेशन में आपके निरीक्षण में आपकी अपेक्षा में फर्क पड़ जाता है फॉर्म फर्क और अगर लेडी डॉक्टर हो तो फर्क और थोड़ा ज्यादा पड़ेगा आपकी अपेक्षाएं और गबरा दें आपकी अपेक्षाएं आपका मन वहन तंतुओं को हिला देगा इसलिए समझदार डॉक्टर दो चार कम करके सोचेगा कि इतना होगा ठीक है क्योंकि दो चार तो आपने अभी बढ़ा लिए होंगे जो नहीं रहे हो लेकिन हमारी नाड़ी तो हमसे जुड़ी इतनी प्रभावित हो जाती हो लेकिन मैं कह रहा हूँ बाहर के जगत में जो अचेतन पराग हमें दिखाई पड़ता है वो भी हमारे चित्र से इतना ही जुड़ा हुआ है जो माली अपने बगीचों को फूलों को प्रेम करता है कि आप सोच सकते हैं उसके फूल बड़े हो जाते हो आप पागल तो बनूंगा लेकिन अगर माली ही ये कहते तो हम पागलपन की बात मानते ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी में एक छोटी सी लेबरेटरी है दीलाबार उसमें फूलों का भी बहुत से प्रयोग हुए और घबराने वाले के प्रयोग एक ईसाई फकीर ने यह कहा कि मैं जिस बीज को आशीर्वाद दे दू उसमें बड़े फूल आएंगे उस प्रयोगशाला में इस पर बहुत से प्रयोग हुआ ही पैकेट के बीज एक गमले में डाले गए और दूसरे गमले में डाले गए एक गमले को फकीर से आशीर्वाद दिलाया गया और फकीर ने उस गमले के सामने खड़े होकर परमात्मा से प्रार्थना और कहा कि इसके बीज बड़े हो इसके फूल बड़े हो इसके अंकुर जल्दी आए और दूसरे गमले को आशीर्वाद नहीं दिया गया और वैज्ञानिकों ने पूरी कोशिश की कि दोनों गमलों को एक सी सुविधा एक सा पानी एक सी धूप एक था पार सब एक था मिले लेकिन बड़ी मुश्किल थी आशीर्वाद दिए गए बंदे पर बड़े पूरा आशीर्वाद दिए गए बंदे पर बीच जल्दी उनको बंदे आशीर्वाद दिए गए बंदे पर ज्यादा फूल आए आशीर्वाद दिए गए बंदे के फूल ज्यादा देर टिके आज गंदे पर होता तो समझते कि कुछ आजादी हो फिर ये अनेक संभव से प्रयोग किया गया और हर बार यही हुआ क्या कारण होगा क्या मनुष्य प्रकृति उन बीजों को भी प्रभावित करता है असल में चेतना और अचेतना के बीच कहीं भी दीवार नहीं और जो इस हृदय में प्रतिध्वनित होगा वो जगत के सब कोणों तक पहुंच जाता है और जो जगत के किसी भी कोने में प्रतिध्वनित होता है वो इस हृदय के कोने तक आ जाता है हम सब इकट्ठे हैं संयुक्त से इसलिए योग का चौथा सूत्र फिर बाकी सूत्र में कल आपसे बात करूंगा योग का चौथा सूत्र कि जगत में कुछ भी असंबंधित नहीं है everything is related the world is a family ये जो जगत है एक परिवार है यहाँ असंबंधित कुछ भी नहीं है यहाँ सब जुड़ा यहाँ टूटा कुछ भी नहीं है यहाँ पत्थर से आदमी जुड़ा जमीन से चांद तारे जुड़े चांद तारों से हमारे हृदय की धड़कने जुड़ी हमारे विचार सागरों की लहरों से जुड़े पहाड़ों के ऊपर चलने वाली बर्फ हमारे मन के भीतर चलने वाले सपनों से जुड़ी यहाँ टूटा हुआ कुछ भी नहीं यहाँ सब संयुक्त है यहाँ सब इकट्ठा यहाँ अलग अलग होने का उपाय नहीं क्योंकि यहाँ बीच में गैप नहीं जहाँ की चीजें टूट जाए टूटा होना फिर हमारा धर्म इसलिए योग का चौथा सूत्र आपसे कहता हूं ऊर्जा संयुक्त है ऊर्जा एक परिवार न चेतन अचेतन से टूटा न अस्तित्व अनस्तित्व से टूटा न पदार्थ मन से टूटा न शरीर आत्मा से टूटी है न परमात्मा प्रकृति से टूटा है प्रकृति से टूटा टूटा पूर्ण सब ही टूटा है सब जुड़ा है सब इकट्ठा संयुक्त है संयुक्त और इकट्ठा शब्दों से गलती मालूम पड़ती है क्योंकि ये शब्द हम उनके लिए लाते हैं जो टूटे हुए ये एक ही है जैसे एक ही सागर में आनंद लहर हर लहर दूसरी लहर से जुड़ी आप जिस किनारे पर बैठे वहां जो लहर आपके आके दी वो लहर अंतहीन किनारों से जुड़ी जो आपको दिखाई नहीं पा यहाँ सब जुड़ा है यहाँ से पृथ्वी से दस करोड़ मील दूर पर सूरज सूरज ठंडा हो जाए हम सब ठंडे हो हम ये ना कह सकेंगे कि दस करोड़ मील दूर पर सूरज हो से हमारा क्या लेना देना हो जाओ ठंडे हम अपने घर का दिया जला रहे क्या फिक्र नहीं लेकिन आप ठंडे हो जाएंगे क्योंकि सारी जीवन ऊर्जा और सूरज से आपको मिल रही लेकिन वो सूरज भी दूसरे सूर्यों से जुड़ा है महासूर्यों से जुड़ा है वैज्ञानिक कहते हैं कि अब तक उन्होंने जो गणना की वो करीब दस करोड़ सूर्यों की और वो सत्संग और ये गणना पूरी नहीं ये गणना पूरी कभी नहीं होगी क्योंकि इससे आगे और आगे और आगे विस्तार मानती है इस अनंत विस्तार में सब संयुक्त है यहाँ एक फूल भी खिला है तो वो भी हमसे जुड़ा है और सड़क के किनारे पड़ा है तो वो भी हमसे जुड़ा है कि जब इस प्रकार को समझेंगे तो मैंने कहा कि आपकी नारी तो प्रभावित होगी जो चीजें आपको बिल्कुल ख्याल में नहीं आती वो भी प्रभावित होगी एक छोटी सी सुई पर एक प्रयोग करें एक थोड़े से बर्तन में पानी भर एक गिलास में पानी भर और पानी पर कोई भी चिकनी चीज फैला ग्रीस फैला थोड़ा सा घी डाल दें या थोड़ा सा तेल फैला दें और इस पतली आंटी को इस तेल पर फैला फिर उस गिलास के ऊपर दोनों आंखें गड़ा के बैठ जाए दो मिनट तक आंखें न चपके और फिर उस सुई को कहीं के बाई घूम जाओ और आप हैरान होंगे की सुई बाई घूम के और उसको कहीं दाई घूम जाओ तो आप हैरान होंगे की दाई घूमती और आप कहीं रुक जाओ तो वो रुकती और आपको इशारे से चलती है तो इसलिए कि आपके पास संकल्प बहुत छोटा है अन्यथा पहाड़ भी घुमा जा सकते सुई तो इसलिए लेकिन सुई तो घूमती तो पहाड़ से घूमने में कोई बाधा नहीं रहता जाती क्योंकि सुई पहाड़ में फर्क क्वांटिटी का फर्क होगा लेकिन सिद्धांत का कोई फर्क नहीं पड़ता योग कहता है हम सब जुड़े इसलिए योग कहता है जब एक आदमी बुरा विचार करता है तो आसपास के लोग तत्काल बुरे होने शुरू हो जाते हैं उस विचार को प्रकट करने की जरूरत नहीं जब एक आदमी अच्छा विचार करता है तो आसपास के अच्छे विचार की तरह फैलने शुरू हो जाता है अच्छे विचार को प्रकट करने की जरूरत नहीं अचानक किसी आदमी के सामने जाकर आपको लगता है शांति आ गई अचानक किसी आदमी के सामने जाके लगता है कि आकांक्षी किसी रास्ते से गुजरते हैं लगता है कि जैसे मन हल्का हो गया किसी रास्ते से गुजरते हैं लगता है कि जैसे मन भारी हो गया किसी घर में बैठते हैं और लगता है कि भय को बढ़ जाता है किसी घर में बैठते हैं लगता है कि हृदय प्रफुल्लित हो जाता है ये सब चारों तरफ से आ रही कर्मों के परिणाम ये चारों तरफ से दे रही कर्म आपको छू रही है ऐसा नहीं है कि यही आपको छू रहे आप ही छू रहे आप भी तरंगों को छू रहे ये पूरे वक्त चलता है इस समस्त के विस्तार के बीच हम भी ऊर्जा के पुंज और चारों तरफ डायनेमिक सेंटर से ऊर्जा वो सब काम में लगे सारे जगत की नियति हम सबकी शिक्षक की नियति है <coughs> योग के चौथे सूत्र का अर्थ है कि अपने को अलग देखना पागल पर अपने को अलग मानना ना खुशी अपने को अलग समझ के जीना अपने हाथ से अपने सिर पर बोझ होना एक छोटी सी कहानी और अपनी बात में बोल करूँ अपने सूत्र कल आपसे दूंगा मैंने सुना है एक योगी एक फिल्म सवार हुआ एक फकीर थर्ड क्लास के डब्बे में जाकर बैठा अपनी बेटी सिर पर रखनी बेटी के ऊपर अपना बिस्तर रख लिया बिस्तर के ऊपर अपना छाता रखा पर पांच पड़ोस के लोगों ने कहा इतना पत्र तो नीचे रखो सामान आराम से बैठो उस योगी ने कहा कि मैं सोचता हूँ टिकट तो सिर्फ मैंने अपने लिए ली इसलिए ट्रेन पर ज्यादा वजन डालना अनैतिक होगा इसलिए वजन अपने सिर पर रखा होगा उन लोगों ने सब पागल हो गए हैं आपके सिर पर रखिए तो भी ट्रेन पर तो वजन पड़ेगा ही इसलिए नहा अपने सिर को और वजन को दे रहे नीचे रखिए और आप आराम से रखिए ट्रेन तो वजन ढोएगी ही चाहे सिर पर रखिए और चाहे नीचे रखिए उस फकीर ने कहा कि मैं तो समझता था ज्ञानी हूं मैं यहाँ ज्ञानी नहीं के बदल रखा उन लोग उनका हम समझेंगे तो फकीर ने कहा कि जिंदगी में मैंने सभी लोगों को अपने सिर पर वजन रखे देखा जो वजन परमात्मा पर छोड़ा जा सकता था मैंने हर आदमी को सारी चिंताओं का बोझ अपने जिंदगी में लिए रखने देखा पहाड़ के पहाड़ जो कि चांद तारों में छोड़ जा सकते जिन्हें की हवा नहीं खा लेकिन हर आदमी को मैंने इतनी उदासी और परेशानी से भरा नहीं करने की खून उठा ले हवा की धोखे उठा ले शांतारे उठा ले सारा जगत उठा लेता लेकिन हर आदमी अपना बोझ नहीं कर रहा है तो मैंने सोचा कि इस डरने में कहीं आप लोग नाराज ना हो तो मैंने सामान ऊपर रखा लेकिन आप तो ज्ञानी और उन्होंने कहा कि में ही हम ज्ञानी जिंदगी की गाड़ी का सवाल तो वहां तो हम अपना बोझ अपने सिर पे रखते उन्होंने कहा कि अपने से प्रगटना नहीं पड़ेगा हमारे अतिरिक्त और किसने से प्रगट योग कहता है किसी के सिर पर बोझ नहीं रखना है बोझ किसी के सिर पर है ही नहीं सिर्फ उन्हीं के सिर बोझिल हो जाते हैं जो इस सत्य को नहीं जान पाते कि जीवन संयोग जीवन है श्वास हवाओं को लेकर प्राण की गर्मी तारों पर सूर्यों पर निर्भर जीवन का होना प्रकृति के क्रम पर निर्भर मृत्यु का आना जन्म का दूसरा कर्म किसका हो रहा हम इस सत्य उत्तर को उठा के रखते योग कहता है अगर हम इसे देख पाए कि हम इस बड़े जाल के बीच एक छोटे से तंतु से ज्यादा नहीं एक नदी में दो सिर के बहे जा सकते शेष की धार नदी की और एक तिलकर नदी की धार से लड़ने की कोशिश कर रहा है उस नदी की धार में अपने को हार डाल रहा और नदी में बांध बांधने की कोशिश कर रहा कि रोक दूंगा नदी को फर्क न पड़ता था बाहर जा रहा था तिनका ही था नदी को खबर भी ना थी कि किसी तिनके को बांध बांधने का ख्याल गया नदी को यह भी पता न था कि कोई तिनका लड़ रहा कहा होता पता नदी को नदी भागी जा रही है सागर की तरफ वो तिनका बाहर जा रहा है लड़ा जा रहा है उसके साथ एक दूसरा तिनका उसमें नदी ने अपने पृथ्वी पर छोड़ रखा और वो सोच रहा है कि नदी को सही रोकना है और सोचता था कि नदी मेरे सहारे कितनी तेजी से बढ़ी जा रही है इससे भी कोई फर्क न पड़ता था नदी को कोई सहारा न मिलता था नदी को उन दोनों तिलकों से कोई फर्क न पड़ता था जो नदी को रोकता था उससे जो लड़ता था उससे जो नदी को सहयोग देता था नदी को बहाता था उससे लेकिन तिलकों को फर्क पड़ता जो लड़ रहा था वो व्यक्ति मारा जा जो बढ़ रहा था वहां से भाव से नाच रहा दोनों पर जा रहे एक लड़ता हुआ मरता हुआ परेशान एक आनंद से दूर लेकिन योग कहता है कि दोनों दिन के ही मत बनो क्योंकि दोनों का धर्म एक दूसरे से जुड़ा है तुम तो समझो कि नदी बह रही है न तुम्हें बहाना नदी बह रही है न तुम्हें रोकना और तुम नदी के हिस्से हो जाओ दिन के भी मत रहो तो लहर बन जाओ और सब निर्भर हो जाओ तो देख लेते जाओ सब कोई हार नहीं रह जाए चौथा सारा जगत एक प्रवास हो जाता उसमें हम एक लहर से ज्यादा नहीं है सब जुड़ा इसलिए जो यहाँ होता है वो सब जगह फैल जाता है और जो सब जगह होता है वो यहाँ सिकोड़ आता है इस जगत में जो जो हो रहा है हम साझीदार संयुक्त तो पार्टनरशिप उसमें कोई अलग अलग नहीं अगर कहीं कोई चोर है तो मैं जिम्मेवार जरूर मेरी बुराइयों में भी उसे चोर बनाने में सहयोग दिया होगा और कहीं अगर कोई हथियार है तो मैं जिम्मेवार हूँ अगर कहीं कोई साधु है तो मैं जिम्मेवार हूँ इसका मतलब ये हुआ कि जिम्मेवारी की कोई जरूरत ही नहीं कहीं भी जो हो रहा है उसमें मैं भागीदार और तब कोई बोझ नहीं तब कोई अकेले नहीं पश्चिम में एक नया शब्द पकड़ा अकेलापन अजनबीपन इस सिंह की तरह एक आदमी हो गया है हर आदमी को लग रहा है नाचेगा कोई झांसी नहीं कभी पत्नियों को भ्रम होता कभी पत्नी झांसी कभी पत्नी भ्रम पालती कभी पति झांसी अब सब भ्रम टूटे जा रहे पत्नी को पकड़ने के पति झांसी पति को पकड़ने के पत्नी शांति जब पति प्रेम कर रहा है तभी पकड़ने के मन में गए हो काम भर रहा कुछ पकड़ नहीं बेटों को पकड़ा नहीं है बाप बाप को पक्का नहीं जो मिलेगी भारत हिंदुस्तान में कुछ पक्का नहीं सब और एक बात में अकेला हो गया अलाइन हो गया इतनी पश्चिम में इतनी चिंता और इतना बोझ और एक इलाज में दबा जा रहा पहाड़ों और एक इलाज में पागल हुआ जा रहा है यहाँ भी वही हुआ जा रहा है योग जाता है ना समझी तुम अकेले हो तुम ही ना समझी जगत है जिस दिन कोई आदमी ऐसा समझ लेता है कि मैं सबके हाथ इकट्ठा हूं उसी दिन उसके ऊपर चिंता से सारे बोझ प्रवृत्त हो उसी दिन वो मुक्त हो जाता है भीतर सब बंधन दे जाता ये चौथा सूत्र ऐसे कुछ और सूत्रों की मैं आपसे रोज करूंगा इस संबंध में जो भी प्रश्न हो वो कल आप मुझे लिख दे देंगे उनकी चर्चा कल की चर्चा के साथ में करूंगा रोज जो भी आपके सवाल हैं वो मित्र देते जाएंगे ध्यान के संबंध में एक सवाल किसी मित्र ने पूछा है वो मित्रों के ध्यान की जो बैठक में उसमें बात कर लूंगा एक और बात आपके क्रम में सिर्फ ध्यान की एक चित्र है वो आप देखें जो मित्र सुबह ध्यान में आना चाहिए और मैं चाहूंगा कि सभी आना चाहिए क्योंकि जो योग के सूत्र की मैं बात कर रहा हूँ वो सिर्फ बौद्धिक इंटेलेक्चुअल समझ लाए अगर उसमें प्रयोग भी करना एक्सपेरिमेंट भी करना लेबोरेटरी में प्रवेश करना तो उसको तो आना जरूरी होगा सांस में आपसे बात करूंगा और सुबह किसी बात के लिए हम प्रयोग करेंगे शांत तो सांस आप समझ ले और सुबह आप कर ले तो आपको समझ पूरी आ जाएगी अन्यथा अकेली समझ आधी समझ हो जाती है आधी समझ ना संतुष्ट नहीं होगी मेरी बातों का गलत अंत में आप तक मेरी दरबार के परमात्मा को प्रणाम करता हूँ